कितने साल बाद मैंने महाराज की विनती के माना देखकर हिंदी में लिखा अच्छा धन्यवाद भागवत सप्ताह 2003 श्री श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज आपकी भगवत कथा में रुद्रासुर का जन्म से असुर था लेकिन वो भगवान का परम भक्त था श्रीमद भागवत के अध्याय छ के ग्यारह प्रकरण में रुद्रासुर का आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करे है श्लोक अठारह में भगवान की चरण चरणरथ की अपेक्षा की है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो भी एक लड़ाई का मैदान में श्लोक में उसने भगवान का भक्त की चरणज की अपेक्षा की है हम सभी भगवान का भक्त का दासानुदास है और वो भक्त की कृपा से भगवान का दास बन सकता है ये सनातन सत्य आपने समझाया है दूसरे श्लोक हाँ, चौबीस में अहम हरे तव पादे कमूर्त दासानुदासो भवितास्मी भूय मनोस्मृता सुपते गुणास्ते गुणित वाक कर्म करो तुकाय काय उसने फिर से ऐसी इच्छा व्यक्त की की है कि आपका दास जिसने सहाय सदाए भगवान का चरण का सहारा लिया है मैं फिर भी उनका सेवक बन बनकर मेरा मन से भगवान का गुणों का चिंतन करूं और मेरा एक एक शब्द से आपकी कीर्ति का गुणगान करो और मेरा शरीर से आपकी प्रेम भरी सेवा करो ये परंपरागत परंपरागत भक्ति गीति आपने बहुत उमदा उदाहरण देते हुए हम सबको समझाया और आपकी अमृतवाणी का हम सबको लाभ दिया इसीलिए हम सब आपका आभारी है आपका चरण कमल में हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें आपका सेवा ओम अज्ञान तीव्रम दश्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति स्वदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरुपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सगुणागुणात्मवितां तं सजीवम् साद्वैत साधुत परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता शिवसाकम पिताम च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते नमाहो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नामिने पदाय विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नीति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशादेशकारिणे परम पूज्य श्री राधा गोविंद जी महाराज आपके श्री चरणों में अद्वैत सिंह दास का दंडवत प्रणाम मैं कई दिनों से आपकी यह पुस्तक में श्रीमद भागवत कथा सुनने की इच्छा मन में हुई थी आपकी और श्री कृष्ण की कृपा से आज वह इच्छा पूर्ण हुई है मैं बहुत धन्य हो गया और साथ साथ बहुत आनंद भी आया आपके मुख कमल से निकला हुआ श्रीमद भागवत जी का अमृत इतना मीठा लगता है कि वो पीने का बंद होता है तब मन बहुत चटपटाने लगता है और मन करता है कि उसका रसपान मोर मोर करते रहे श्रीमद भागवत में हम सब लोग जानते हैं जब भगवान सुखदेव गोस्वामी उनके माता के उदर में अरणी माता के उदर में थे तब बारह साल तक बाहर नहीं आए थे उनको भी माया का डर लगता था बाद में बाहर निकलने का तुरंत बाहर निकलने के बाद तुरंत वन में चले गए उनके पिता से भगवान व्यासदेव ने उन वास्तव उनके पीछे दौड़े फिर भी वापस नहीं लौटे बाद में वृक्षों के माध्यम से भगवान व्यासदेव को सांत्वन मिले और अपने आसन में वापस लौटे भगवान व्यासदेव सोचते थे कि मेरे भागवत का प्रचार कौन करेगा उनके लिए मेरा बेटा ही अकेलाई कोई नहीं है भगवान व्यास देव सोचते थे कि उनको मैं वापस कैसे बुलाऊं बाद में भगवान व्यास देव ने उनका शिष्य को जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा और साथ साथ उनके उन सब को बताया कि ये दोनों श्लोक का गान करते करते वन में घूमना उसमें एक श्लोक का या भगवान का स्वरूप का वर्णन है बहा पीड़ा नटवर वक्तु कर्ण व कर्ण कारण और दूसरा पुतना का वध का उसी उससे भगवान सुखदेव गोस्वामी ने को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण कितने करुण का करुणा में है कि जो उनको जहर दिलाने वाले दिला जहर देने के बाद उसको मांगने आए थे उनको भी भगवान ने माता की गति प्रदान की बस यह सुनकर भगवान सुखदेव अपने पिता के आश्रय में लौटे इस प्रकार मैंने भी सर्वप्रथम सन उन्नीस सौ में महाराष्ट्र की न्यूयॉर्क में श्रीमद भागवत का रसपान किया उसी रस को हम जब याद करते हैं तो हमेशा ऐसा मन होता है कि महाराज से हमेशा यह कथा का रसपान करता रहूं यह मेरी अकेला का अनुभव नहीं है लेकिन हम सब जो बाहर से यह कथा सुनने आए हैं जैसे मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ कई वक्त न्यूजर्सी से आए हैं कोई डेनवर से आए बाल्टीमोर से आए तो ये सबके यह अनुभव है भगवान की कथा लोहित चुंबक जैसी है इसके लिए हम सब खींच के यहाँ उत्तम कथा सुनने आए हैं इससे बड़ा अनुमोद क्या हो सकता है श्रीमद भागवत का हम सब जितना भी अनुमोदन करें तो भी वो अधूरा रहेगा इस कथा में हम सबसे अच्छा दही रुचि को जो अपना शरीर देवताओं को एक रक्षक के लिए दिया था वो हमको सबसे सबको बोध मिलता है कि मनुष्य सही भगवान की और वैष्णव की सेवा के लिए ही है बाद में ज्योता शून्य चार श्लोक में फोर टू भगवान के पास जाने का जाने की तीव्र इच्छा प्रकट की है उसमें अधिक अजात पक्षा एवं मातर खगम संध्या यथावस्त्र सुदता प्रिय एव विषिता विषमणा मनो अलाविंदक्ष दिदक्षते त्वामा ये श्लोक मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक हमसे बहुत पसंद है हम भी हमारे समय आने पर ऐसी प्रार्थना कर सके दूसरी एक प्रार्थना मुझे याद आती है कि जो प्रभुपाद जी कभी कभी गाते थे वो है भक्त राजा कुलशेखर की कृष्ण तदीय पाद पंकज पंचराण्यम सदैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पीत कंठावर धनुर्विधौ स्मरण कुटस्थ इसमें भी राजा कुलश्री का ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन को भगवान आपके चरण कमल के पंजर में भंग कर दो तो जो मैं आपकी हमेशा याद करता रहा हूं क्योंकि जब प्राण निकलने वाले समय आते हैं तो उसी समय कफ हाथ पीत बहुत जोर करते हैं और कंठ चुप जाते हैं तो उस समय मैं आपका स्मरण नहीं करना पाऊँ तो इसलिए ऐसी प्रार्थना वो करते हैं अंत में मैं श्री लीला प्रभु और माधी माता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उन दोनों ने रात दिन बहुत कष्ट लेकर भी और हमेशा हंसते रहकर कथा का आयोजन किया और हम सबको अपने कुटुंब के व्यक्ति से भी अधिक तरह से अपने साथ रखे हैं तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता हम सब भी श्री राधा नील माधव भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़े ऐसे में श्री राधा गोविंद महाराज से उनके आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ आपका दासानुदास दास New York Hare Krishna getting 8.30 so I request to keep it little short so more devotee can come and speak. Next I will invite His Grace Pradyuman Prabhu. Satsuru Maharaj, uh, disciple of Satsurup Maharaj and uh, he has been with the movement for a long time. Baltimore. He has come from Baltimore. <coughs> Hare Krishna. Uh, His Holiness Sri Radha Govind Maharaj, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Last seven days of Bhagavad Gita was a great opportunity for me to improve my devotional service. I have read Srimad Bhagavatam before, especially uh, this chapter of Vatrasuri. But I read in English, so I did not understood in detail. Uh, after listening seven days in our mother language, you have described each verses in so much detail that improve my spiritual realization. Specially Vatrasu prayer in chapter 11, four verses, which is most important verses, and you have explained that Ajat Pakshayu Matar Khaga. You have explained so very nicely, everybody understood, everybody remembered those things. Also, Bhakti Rasamrita Sindhu described uh, several factors of bhakti, which is a sadhu sangha, nam sankirtana, bhagavat katha, archana worship, and thinking about Vrindavan, which is called Vrindavan Vas. We are 15,000 miles from Vrindavan, we hum ja nahi but still we are always, our mind and our thoughts and every time we are thinking about Vrindavan. By, uh, during these seven days, we, all these factors, I, I see we have fulfilled and this is the most valuable opportunity to attain Bhagavad Katha, which is, we are all a very uh, fortunate soul who is over here uh, and listening Bhagavad Katha. I'm very pleased to see nice congregation and uh, temple management and everybody supporting and to mm, Bhagavad Katha. My humble request to Maharaj, please come every year and visit more city in United States so we can preach Bhagavad Katha and spread the Prabhupada and Lord Chaitanya message. Also, I want to uh, thanks Sri Harilila Prabhu and uh, Madhvi Mata, who gave us, who invite us here and provide facility to stay. All glory to Srila Prabhupada. Thank you. Next, I will call upon His Grace Nilamani Prabhu. Um, my Hindi is not so good, so please forgive me, but I will try. परम पूज्य राधा गोविंद महाराज और सब वैष्णव मेरा और यहाँ ह्यूस्टन मंदिर का अध्यक्ष श्याम सुंदर दास हरिला प्रभु को हार्दिक धन्यवाद इससे हमको ये महाभगवत वृत्रासुर की कथा श्रवण करना के मौका मिला ये कथा में हर दिन खूब आनंद मिला और कुछ जानना भी हर दिन मिला इसमें मुझको कुछ अच्छा लगा और याद है वो हम यहाँ लिखते हैं पहला दिन में ददाची मुनि का त्याग और वैराग्य में से स्थापित हुआ कि देह देह के दैन्य मिजरेबल कंडीशन जिसमें आत्मा कष्ट भोगता है ट्रिब्यूलेशन में है वो देह और गुण का वो परिक्रिया परिक्रिया है और क्षण भंगुर है पेरिशेबल एट एनी मोमेंट ये क्षण भंगुर देह के साथ हमारी इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए और जो भी सब मिले और अपॉर्चुनिटी वो दे कि वो भगवान की सेवा में लगे ये विचार कर, करना बिना लगनी चाहिए जैसे ददीची मुनि को हेजिटेशन बिना शरीर विदे दिया दूसरा दिन की कथा में भक्त और संत की एक बहुत अच्छा लक्षण आया था वो कृष्ण अनुकुलेश यथा महत् सुशुद्र प्रयुक्त उसति रुक्षा वचा वो सच्चा संत और भक्त वो उनको कोई खराब शब्द और क्रिटिसिज्म की असर ना होती है इसके कारण है कि वो भक्त और संत कृष्ण अनुकुलेश ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय कृष्ण है तीसरा दिन में वितरासुर के भगवान कृष्ण का गीता का अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नितिर्मतिर्ममा का महात्मा इंद्र को बात किया वृत्रासुर के इंद्र को कहा कि इंद्र डरो मत आपका वज्र में तो विष्णु का तेज है और दरीची का तप है तो हरि विजय श्री गुणस्तता आपका विजय निश्चित है चौथा दिन में कथा में रुद्रासुर का प्रवचन में इस इस्कॉन संस्था का बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल अथवा डेस्टिनेशन आए थे रुद्रासुर की चौथा श्लोक के पथक में पहला आया के अहम हरे तवा पदय कमूल दास अनुदास अनुदासो भवितास्मी भूया हमें भी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे हरि हमको भी दास अनुदास बनाने को मौका दिया पंचवा दिन कथा में गीता का महत्व शिक्षण आया था वृत्रासुर बोला था कि तम अज्ञान जन तमोहतम आत्मनाम मन्य जदम हमेरी सब शक्ति बुद्धि और प्राण भगवान देते हैं तब तब में हम सोचते हैं कि हम करते हैं और हमारी बुद्धि से हम जीत सकते हैं कृष्ण भी अर्जुन को कहे थे कि कर्मण्य युवती करते माँ फलाशु कदाचन हमको हर दिन हमारा काम सेवा और कुछ भी कर्म में ये याद कर, ये याद करने की जरूरत है छठे दिन में इंद्र का प्रवचन में आए थे कि खलो इदम महा आश्चर्य यद राजस प्रकृते स्तव वासुदेव भगवती सत्वत्तामी दृढ़मति आप जैसे महादानव की मति भी सत्ववात्मी प्योर गुडनेस हो गए इसमें से सत्संग अथवा एसोसिएशन का महत्व और जरूरत कितनी हो वो सीखते सही जब मैं सत्संग का मौका मिलता है तो विचार बिना रहना चाहिए और आज आखिरी दिन में ये, ये कथा में आया कि कोई आदमी जो आ, कोई भी ऊंची स्थिति है तब भी ये भगवान का नाम और धर्म का बल की सहायता से पाप नहीं कर सके इसका कर्म जरूर भोगना पड़ेगा महाराज आप और सभी वैष्णव को हमें फिर से धन्यवाद देते हैं इस कथा में खूब आनंद आया कथा के साथ सब भक्त के साथ हरीला प्रभु का घर में खूब आनंद आया कल आप श्याम सुंदर का प्रश्न का जवाब में बोला था कि इस आनंद और कॉन्शियसनेस कैसे चार्ज रख, रख सकते हैं इस बारे में यहाँ सब भक्त को रिक्वेस्ट करते हो कि महाराज की अलग अलग कथा के कसेट्स और वीडियोस है तो इसका जरूर उपयोग करता करता रहना वो लिस्ट हमारे पास है जिस भक्त को चाहे तो हमको कांटेक्ट करना अलग अलग कथा का मानस का सब मिल सकते हैं अंत में हमको